अल्लाह ही वो है जो हवाएं भेजता है चुनाचे वो बादल को उठाती हैं फिर वो उस बादल को जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है और उसे कई तहों वाली घटा में तब्दील कर देता है तब तुम देखते हो कि उसके दरमियान से बारिश बरस रही है चुनाचे जब वो अपने बंदों में से जिनको चाहता है वो बारिश पहुंचाता है तो वो अचानक खुशी मनाने लगते हैं